प्रेम एकमात्र कवच और कोई कवच नहीं है और कोई सुरक्षा नहीं और तुम जितने भी इंतजाम करोगे सुरक्षा के सब गलत सिद्ध होंगे तुम्हारे हाथों से बनाई गई सुरक्षा मृत्यु के पार न चली जा सकेगी मृत्यु सब सुरक्षा को तोड़ देगी तुम्हारे हाथों से बनाई गई सुरक्षा मृत्यु के पार न चले जा सकेगी मृत्यु सब सुरक्षा को तोड़ देगी मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर डांका पड़ा सब लोगों ने सोचा लुट गया और बचाने की कोशिश में मुल्ला नसरुद्दीन बुरी तरह पीटा भी गया ऐसा पीटा गया कि मरणासन अस्पताल में पड़ा है जरा सा होश आया तो उसने अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखा है जो दूसरे गांव गई थी और लिखा घबराना मत संयोग और सौभाग्य की बात समझो कि एक ही दिन पहले सब बैंक में सेफ डिपॉजिट में जमा करवा दिया था कुछ गया नहीं कुछ ले जाने को था भी नहीं सिवाय मेरे जीवन के कुछ भी नहीं गंवाया है क्योंकि वो मरना सन्न है और मर रहा है सिवाय जीवन के और कुछ नहीं कमाया मरते वक्त तुम भी ऐसा ही पाओगे कि सिवाय जीवन के और कुछ नहीं कमाया है सब बचा है सब तिजोड़ी में रखा है बैंक में जमा है सिर्फ तुम अपने को गमा बैठे हो लेकिन उस जमा का करोगे क्या जीवन को ही खोकर अगर सब बचा लिया तो क्या बचा है अगर सब खोकर भी जीवन बच सके तो बचा लेना उसे ही मैं दुस्साहस कह रहा हूं लाओसे के शब्दों को समझे यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे और वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इस तरफ प्रेम उस तरफ अभय आया प्रेम पीछे चला आता अभय यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे कोई पीछे चलना छोड़कर आगे दौड़ जाए तो उसका विनाश सुनिश्चित है लाओस से यह कह रहा है कि जिसने प्रेम को छोड़ा वो विनष्ट हो गया और तुमने प्रेम को छोड़कर सब बचा लिया तुमने अपनी होशियारी में प्रेम को छोड़कर सब बचा लिया है तुम अपनी होशियारी में सब गमा बैठे हो जिसने प्रेम को छोड़ा उसका विनाश सुनिश्चित है क्योंकि उसे जीवन का भोजन ही मिलना बंद हो गया पश्चिम में वैज्ञानिकों ने इधर बहुत सी खोजें की हैं उनमें एक खोज प्रेम से संबंधित भी है उन्होंने ये पाया है अनेक प्रयोगों के बाद इजिप्त में एक प्रयोग चलता था अनाथालय में तो अनाथालय के दो हिस्से कर दिए थे उन्होंने 200 बच्चे एक तरफ 200 दूसरी तरफ इन 200 बच्चों को पहले खंड में सब भोजन कपड़े सारी सुविधाएं दी जाती थी सिर्फ प्रेम को छोड़कर नर्स आएगी दूध दे देगी लेकिन किसी तरह का व्यक्तिगत संपर्क नहीं करेगी मुस्कुराएगी नहीं कठोर यंत्रवत डॉक्टर आएंगे इलाज कर देंगे लेकिन इम्पर्सनल अवैयक्तिक व्यक्तिगत कोई संबंध बच्चों से नहीं बनाया जाएगा न बच्चों को थपथपाया जाएगा न उन्हें गले लगाया जाएगा ये एक खंड सारी वैज्ञानिक सुविधा दी जाएगी और दूसरा खंड वहां भी उतनी ही सुविधा दी जाएगी लेकिन बच्चों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए जाएंगे डॉक्टर आएगा तो मुस्कुराएगा बैठ के दो बात करेगा कभी बच्चे को गले लगा लेगा नर्स आएगी तो थपथपाएगी कभी बच्चे को उठा के उछालेगी जो अनुभव हुआ तीन महीने के प्रयोग से वो ये हुआ कि पहले खंड के बच्चे सिकुड़ते गए भोजन पूरा दिया जा रहा था इलाज की पूरी व्यवस्था थी लेकिन जीवन धारा सूखती गई बच्चे तीन गुने ज्यादा बीमार पड़े पहले खंड में करीब करीब बच्चे बीमार रहे स्वस्थ बच्चे धीरे धीरे खो गए 200 के 200 बच्चे धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए दूसरे खंड के बच्चे धीरे धीरे सभी बीमारियों के बाहर हो गए और अगर बीमारी आती भी तो टिकती ना पहले खंड में बीमारी आ जाती तो हटती ना सब एक सा था सिर्फ एक प्रेम के तत्व को हटा लिया और प्रेम भी क्या कोई खास प्रेम नहीं दिया जा रहा था थोड़ा थपथपा दिया थोड़े बच्चे से बात कर ली लेकिन ऐसा अनुभव हुआ कि इन बच्चों को दूसरे खंड में कुछ मिल रहा था अदृश्य जो पहले खंड में नहीं मिल रहा था अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वे एक प्रयोग कर रहे थे बंदर के बच्चों के साथ तो एक तरफ उन्होंने बंदरिया बनाई थी जो बिल्कुल तारों की बनी थी उसके स्तन से बच्चा दूध पी सकता था लेकिन सिर्फ तार ही तार थे ठंडे तार कि बच्चा जब दूध पीने आए तो मां से कोई ऊष्मा ना मिले कोई गर्मी ना मिले दूध पी ले और एक दूसरी मां उन्होंने बनाई थी जिसके तारों पर गर्म कंबल चढ़ा हुआ था और जिसके भीतर बिजली का एक छोटा सा बल्ब जलता था जिससे थोड़ी गर्मी बनी रहती थी जो बच्चे उसके पास दूध पीते थे वो तो स्वस्थ रहे कोई प्रेम ना था लेकिन बच्चों को भ्रांति थी भ्रांति तक भी कि मां उसने और जो बच्चे ठंडी माँ के पास दूध पी रहे थे दूध वही था लेकिन धीरे धीरे सूखने लगे फिर दोनों माँ को एक जगह लाके एक ही कमरे में रख दिया और सब बच्चों को उसी कमरे में रख दिया बच्चे दूध तो पी आते ठंडी माँ के पास लेकिन लिपट के सोते सारे बच्चे लिपट के सोते कंबल वाली माँ के पास वहां थोड़ी उष्मा थी वहां थोड़ा जीवन था वहां थोड़ी गर्मी थी और कंबल का स्पर्श थोड़ा सा मां की भ्रांति देता था लेकिन ये भी कोई मां हुई हार्वर्ड में भी पाया गया कि बच्चे को अगर ख्याल भी हो कि दूसरी तरफ से कुछ संवेदना है तो भी बच्चे को जीवन मिलता है मां दूध ही नहीं दे रही है बच्चों को दूध के साथ कुछ और भी दे रही है वो और अदृश्य है और वो और जीवन का सूत्र है वो प्रेम है तुम्हारे जीवन में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही तुम पाओगे कि तुम जीवंत हो जितना प्रेम कम होगा उतना ही तुम पाओगे दीन जर्जर मुरझाए हुए किसी तरह चले जा रहे हो कोई गति नहीं है तुम ऐसी सरिता नहीं हो जो सागर तक पहुंच सके तुम्हारे पैर ही नहीं उठ रहे तुम कहीं ना कहीं किसी मरुस्थल में खो जाओगे इसलिए लाओस से कहता है जिनने जीवन में प्रेम छोड़ दिया और प्रेम छूटा कि अभय छूटा और जिन्होंने मध्य मार्ग चलने की कला ना सीखी जो अतियों में डोलते रहे और जिन्होंने महत्वाकांक्षा का जहर पी लिया और जो पीछे रहने को राजी ना रहे और दौड़कर आगे होने का पागलपन जिन पर सवार हो गया उनका विनाश सुनिश्चित है if one four six love and fearlessness four six resistant and reserve of power forceps following behind and rushes in front, he is doomed. उसे बचाने का कोई उपाय नहीं उसका विनाश बिल्कुल निश्चित है क्योंकि प्रेम जब आक्रमण हो तब तुम्हें बचाता है आक्रमण की घड़ी में प्रेम ही तुम्हारी जीत बनेगा जब कोई तुम पर हमला करे तो प्रेम तुम्हें बचाता है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो पहली तो बात कि अगर तुम बहुत प्रेमपूर्ण हो तो हमले की संभावना सौ में से निन्यानवे प्रतिशत समाप्त हो जाती अगर तुम प्रेम दे रहे हो तो दूसरे में हमले की आकांक्षा को तुम वैसे ही नष्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी पागल लोग बुद्ध पर भी पत्थर फेंकने वाले लोग मिल ही जाते जीसस को भी आखिर सूली पे चढ़ाने वाले लोग मिल ही गए सुकरात को जहर देने वाले लोग थे ही तो तुम अगर कितने ही प्रेम से भरे हो तो भी निन्यानवे प्रतिशत ही मौका कटता है क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे हृदय भी हैं तुम जितने प्रेम से भरे हो उससे ज्यादा घृणा से भरे पाषाण हृदय भी है इतने रुग्ण लोग भी हैं कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही तुम पर हमला कर देंगे उनकी बर्दाश्त के बाहर होगा कि कोई इतने प्रेम में जिए तुम उनके लिए शत्रु मालूम पड़ोगे निन्यानबे प्रतिशत तो तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण की संभावना को समाप्त कर देगा एक प्रतिशत जो आक्रमण की संभावना शेष रह जाएगी उस क्षण में भी अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो तो वही तुम्हारी सुरक्षा है और कोई सुरक्षा नहीं हो सकती बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ दिया था बड़ी हैरानी हुई कि पागल हाथी आके बुद्ध के सामने ठिठक के खड़ा हो गया पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक है जोस दलगादो उसने एक प्रयोग किया है सांड के साथ उसने सांड के भीतर मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगा दिए थे और एक छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो से उन भीतर लगे हुए तारों को संदेश दिया जा सकता था मस्तिष्क में केंद्र है क्रोध का केंद्र है घृणा का केंद्र है प्रेम का केंद्र है आक्रमण का केंद्र है भय का केंद्र है मस्तिष्क में सब केंद्र हैं वैज्ञानिकों ने सारे केंद्र खोज लिए और उन केंद्रों पर अगर बिजली का प्रवाह डाला जाए तो जिस केंद्र पर प्रवाह डाला जाता वही केंद्र सक्रिय हो जाता तो अब ऐसा उपाय है कि तुम बिल्कुल शांत बैठे हो और तुम्हारी खोपड़ी पे खास जगह जरा सी चोट की जाए कि तुम एकदम क्रोध से भर जाओगे क्योंकि वहां से क्रोध का जहर तुम्हारे शरीर में फैलता है जोश दलगादो ने एक भयंकर सांड के भीतर इलेक्ट्रोड लगा दिए दो इलेक्ट्रोड एक क्रोध के ऊपर और एक भय के ऊपर और दो बटन का एक छोटा सा रेडियो वो अपने हाथ में लिए हजारों लोग देखने इकट्ठे हुए थे इस प्रयोग को क्योंकि खतरनाक से खतरनाक प्रयोग सिद्ध हो सकता है कोई सौ कदम दूर खड़ा है सांड भयंकर एक बटन डलगादो ने दबाया किसी को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है अपने हाथ उसने क्रोध का बटन दबाया तो जैसे सांड को लाल झंडी दिखा दो और वो गुस्से में आ जाता वो कुछ भी नहीं क्योंकि भीतर जैसे ही बिजली का प्रवाह उसके क्रोध पर हुआ सांड बिल्कुल पागल हो गया वो झपटा अकेला एक आदमी खड़ा है उसके सामने वो इतना विक्षिप्त भाव से भागा धुआंधार कि लाखों लोग जो देखने इकट्ठे हुए थे उन्होंने समझा कि मारा गया ये आदमी ये प्रयोग इतना पागल सांड इससे बचने का कोई उपाय नहीं और डेलगाडो के हाथ में कोई तलवार नहीं है कोई उपाय नहीं एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो लिए वो भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता वो भी उसकी हथेली में छिपा है लोग खड़े हो गए सांसें रुक गई और ठीक दो कदम पर सांड आया और डेलगाडो ने उसका भय का बटन दबाया वो वहीं ठिटक गया जैसे कि कोई भयंकर दीवाल सामने खड़ी हो गई हो दो कदम एक क्षण और और उसके सिंह डलगाडो के छाती में घुस गए होते वो एकदम कपने लगा भय से डलगाडो ने जो प्रयोग किया है वैसा प्रयोग कभी नहीं किया गया लेकिन जिनके जीवन में प्रेम रहा है उनके आसपास ऐसे प्रयोग बहुत बार अपने आप हो गए हैं ऐसा हुआ बुद्ध के जीवन में पागल हाथी छोड़ दिया गया अगर तुम मेरी बात समझ सको तो डेलगाडो ने जो यंत्र से किया है वो बुद्ध ने सिर्फ भाव से किया वो भी किया ये कहना ठीक नहीं क्योंकि बुद्ध तो प्रेम से भरे पागल हाथी आया भागा हुआ बुद्ध के भीतर से जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो तो प्रेम है तो वो उस पागल हाथी के प्रेम के केंद्र पर चोट कर रहा है जैसे डेलगाडो बिजली का प्रवाह दे रहा है प्रेम भी तो विद्युत है प्रेम भी तो बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है बुद्ध का हृदय प्रेम से भरा है उनके आसपास प्रेम बरस रहा है वो हाथी अचानक आके ठिठक के खड़ा हो गए और न केवल खड़ा हुआ क्योंकि ये कोई यंत्र के द्वारा खड़ा नहीं किया गया था वो झुका और बुद्ध के चरणों में सिर टेक दिया किसने बचाया प्रेम कवच लेकिन आदमी हाथियों से ज्यादा खतरनाक है हाथी पागल भी आदमी जितना पागल नहीं स्वस्थ आदमी जितना भी पागल नहीं क्योंकि जीसस प्रेम से भरे रहे और लोगों ने सूली लगा दी आदमी के अंधेपन का मुकाबला नहीं है आदमी बेजोड़ है कोई जानवर आदमी के जानवरपन से मुकाबला नहीं कर सकता जिसने भेजा था पागल हाथी देवदत्त वो बुद्ध का चचेरा भाई था उस पर बुद्ध का प्रेम काम ना कर पाया पागल हाथी ठहर गया देवदत्त नए आयोजनों में लग गया वो जीवन भर बुद्ध को मारने की चेष्टा करता रहा कभी पहाड़ से चट्टान सरका दी उसने शायद चट्टान भी बुद्ध को छोड़ के मार्ग से हटके गिर गई हो क्योंकि बुद्ध उससे मरे नहीं चट्टाने भी आदमी के हृदय जैसी चट्टाने नहीं आदमी एक अनूठी बात है आदमी उठे तो परमात्मा जैसा है गिरे तो पाषाण भी काफी नहीं उनसे भी नीचे गिर जाता है आदमी गिरे तो ठीक नरक निर्मित कर लेता है उठे तो उसके चारों तरफ स्वर्ग है आदमी इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है आखिरी पशुता और आखिरी परमात्मा आदमी में दोनों संभव है आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर आखिरी जमीन में लगा है नरक में टिका है और दूसरा छोर आकाश में यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे कोई पीछे चलना छोड़ के आगे दौड़ जाए तो उसका विनाश सुनिश्चित है क्योंकि प्रेम आक्रमण में जीतता है अगर तुम्हारे पास प्रेम ही ना रहा तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा ना रही तुम बिल्कुल असहाय हो फिर और तुम उल्टा ही कर रहे हो तुम सुरक्षा के दूसरे इंतजाम जमा रहे हो जिनके कारण प्रेम भीतर ना आ सकेगा और प्रेम एकमात्र सुरक्षा है तुम्हारे भय के कारण तुम अपनी एकमात्र सुरक्षा को बाहर कर दिए हो छोड़ो भय को साहसी बनो उठाओ कदम प्रेम में खोने को कुछ भी नहीं है पाने को सब कुछ है और सुरक्षा में वह अभेद्य है जिसके पास प्रेम है उसकी सुरक्षा अभेद्य है माना कि जीसस को लोगों ने सूली पर लटका दिया है मिटा दिया शरीर उनका लेकिन जीसस के अंतर प्राण में वे प्रवेश न कर पाए जीसस अभेद ही रहे क्योंकि आखिरी क्षण में भी जीसस ने कहा कि परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं जीसस का प्रेम अखंड रहा जीसस का हृदय जरा भी डगमगाया ना जरा भी क्रोध ना उठा जरा भी जहर की संभावना ना बनी ठीक हत्या की जा रही है उस क्षण में भी जीसस की करुणा अपराजित अजय रही अभेद रही इसलिए लाओस से कहता है जिन्हें स्वर्ग नष्ट होने से बचाना चाहता है उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित करता है यह तो कहने की बात है यह तो सिर्फ कहने का ढंग है अच्छा तो यही हो कि तुम ये समझो कि जो बचना चाहते हैं वो अपने को प्रेम से सुसज्जित कर लेते हैं स्वर्ग तो सिर्फ साथ देता है तुम जो करना चाहते हो उसी में साथ दे देता है स्वर्ग तो सहयोग है परमात्मा तो राजी है तुम जो होना चाहो तुम अगर नर्क में गिरना चाहते हो तो परमात्मा का हाथ तुम्हें सहारा दे देता है क्योंकि परमात्मा तुम्हारी स्वतंत्रता को नष्ट ना करना चाहेगा परमात्मा जबरदस्ती तुम्हें स्वर्ग में ना उठाएगा क्योंकि जबरदस्ती भी कहीं कोई स्वर्ग में गया है अगर तुम जबरदस्ती स्वर्ग में भेज दिए जाओ तो स्वर्ग कारागृह मालूम पड़ेगा क्योंकि जबरदस्ती परतंत्रता है स्वतंत्रता से तुम नरक में भी चले जाओ तो भी स्वर्ग मालूम पड़ेगा तुमने ही चुना है परमात्मा किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता अस्तित्व सहयोग है और परम स्वतंत्रता है तुम जो होना चाहो अस्तित्व कहता हम तुम्हारे साथ वहीं चलने को राजी अगर तुम अपने जीवन को कब्र बनाना चाहते हो तो कब्र के लिए ईटें जुटा देगा अस्तित्व तुम्हारे हाथों को बल दे देगा कि तुम सब रंध्र द्वार सब बंद कर दो अगर तुम स्वर्ग में उठना चाहते हो तो अस्तित्व सीढ़ियां लगा देगा पांव पाखड़े बिछा देगा अस्तित्व अपनी पलकें बिछा देगा कि आओ स्वागत है लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता को अस्तित्व बाधा नहीं देता मनुष्य परम स्वतंत्र है यही उसकी गरिमा भी है यही उसका दुर्भाग्य भी गरिमा क्योंकि स्वतंत्रता से बड़ा और कुछ भी नहीं है इसलिए तो हम मोक्ष की चर्चा करते रहे सदियों से गरिमा कि मनुष्य उठ सकता है आखिरी छोर तक जिसके पार और कुछ भी नहीं वो बन सकता है शिखर उत्तुंग गौरी शंकर और दुर्भाग्य क्योंकि स्वतंत्रता के कारण वो नरकों की यात्रा भी कर सकता है तुम्हारे हाथ में है सारी बाजी शिकायत किसी से कर ना सकोगे नरक गए तो अपने कारण दुखी हो तो अपने कारण सुखी होगे तो अपने कारण चाहो तो विषाद की मूर्ति बन सकते हो कोई बाधा न डालेगा चाहो तो समाधिस्थ आनंद की प्रतिमा बन सकते हो सारा अस्तित्व साथ देगा हर हाल में राजी है अस्तित्व तुम जहां जाते हो वहीं जाने को राजी इसे स्मरण रखना ये तो कहने का ढंग है से का कि जिन्हें वह नष्ट होने से बचाना चाहता है स्वर्ग उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित कर देता है इसका कुल मतलब इतना है कि केवल वे ही बचते जो प्रेम के कवच को उपलब्ध हो जाते हैं ये तीन खजाने हैं लाओसे के प्रेम पहला खजाना संभालना बचाना जिंदगी में बहुत आंधियां आएंगी उस छोटे से दिए को बुझाने की संभावनाएं बनेंगी तुम उसे बचाना क्योंकि वही जीवन की संपदा है कुछ भी हो तुम प्रेम को मत खो देना और तुम बड़े जल्दी खो देते हो एक आदमी धोखा दे देता तुम कहता हो हमारे आदमियत पर से विश्वास उठ गया आदमियत पर से विश्वास उठ गया एक आदमी ने धोखा दे दिया तुम्हें तुम्हारा पूरी आदमी पे से विश्वास उठ गए जैसे तुम तैयार ही बैठे थे विश्वास उठाने को तुमने ये ना कहा कि एक आदमी ने धोखा दिया है इससे आदमीयत का क्या लेना देना अगर तुम प्रेम को बचाना चाहते हो तो सारी मनुष्यता भी तुम्हें धोखा दे दे और एक आदमी बच रहे जिसने धोखा ना दिया तो भी तुम भरोसा कायम रखोगे कि अभी एक आदमी बाकी है अभी एक आदमी काफी है भरोसे को बचाने को अगर भरोसा बचाना है अन्यथा एक आदमी काफी है मिटाने को एक जगह तुम असफल हो जाते हो कि बस उसी असफलता को तुम अपना घर बना लेते हो कि असफल हो गए जिंदगी में कोई सार नहीं जैन फकीर जैनरिन ने कहा है कि जब पतझड़ आए और वृक्षों से पत्ते सब गिर जाएं और वृक्ष नग्न हो जाएं, तब तुम सावधान रहना ये मत कहना कि सब जीवन उजाड़ है क्योंकि ये केवल वसंत की तैयारी और जब पानी का बुलबुला फूटे तो तुम ये मत कहना कि सब जीवन पानी का बुलबुला है तुम जल्दी मत करना निषेध को इकट्ठी करने की इस देश में निषेध भयंकर है उसने तुम्हारे प्रेम को बिल्कुल मार डाला है सब संसार माया है सब सुख दुख है सब क्षण भंगुर है कुछ सार नहीं उससे तुम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुए हो उससे तुम भयंकर विषाद में डूब गए हो उससे तुम ऊपर उभरे नहीं हो उससे तुम्हारी नाव पत्थरों से बोझिल हो गई है और यात्रा कठिन हो गई उसके कारण तुम्हारे जीवन में परमात्मा का आनंद तो नहीं उतरा केवल संसार की उदासी सघन हो गई तुम्हारे आसपास वो शांति तो नहीं पैदा हुई जो कि आनंद की छाया है तुम्हारे पास शांति पैदा हो गई जो मरघट की छाया है शमशान जैसे तुम शांत हो गए उदास हारे थके पराजित नहीं एक आदमी धोखा दे तो मनुष्यता से विश्वास मत उठा लेना और अगर ठीक से समझो तो जिस आदमी ने धोखा दिया है ये आदमी भी इसी कृत्य में पूरा नहीं हो जाता है इसके जीवन में करोड़ों कृत्य एक आदमी जीवन में करोड़ों काम करता उसके एक काम ने धोखा दिया उसके करोड़ों काम से क्यों आस्था उठा लेते इस क्षण में इस आदमी ने धोखा दिया लेकिन भविष्य तो सदा उन्मुक्त है दूसरे क्षण ये बदल सकता है जल्दी निर्णय क्यों ले लेते हो और धोखे से धोखा देने वाला आदमी भी पूरा तो धोखे में नहीं जीता जी नहीं सकता झूठ से झूठ बोलने वाला आदमी भी तो कभी कभी सच बोलता है बेईमान से बेईमान भी तो कभी कभी ईमानदार होता है तुम क्यों इसकी बेईमानी को आधार बना लेते हो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम धोखा खाओ मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने प्रेम को मत मरने देना प्रेम बड़ा छोटा दिया है और आंधियां बहुत हैं सब तरफ से बुझाने के लिए आंधियां हैं और अगर तुमने बुझाने में खुद सहयोग दिया तो कौन तुम्हारे दिए को बचाएगा कैसी भी स्थिति हो कैसा भी मनुष्य हो कैसे भी लोग हो तुम्हारे आसपास कैसा ही परिवार हो कैसे ही संबंधी हो तुम एक बात ख्याल रखना उन सब के बावजूद तुम प्रेम के दिए को बचा लेना क्योंकि उससे ही तुम बचोगे इनके धोखे तो सपने जैसे हैं पानी पे खींची लकीरें हैं बनेंगी मिट जाएंगी किसी ने तुम्हारी जेब से चार पैसे निकाल लिए क्या बनता बिगड़ता है थोड़ी बहुत देर बाद तुम अपने ही हाथ से निकालते किसी दूसरे हाथ ने वो काम कर दिया है धन्यवाद देना और आगे बढ़ जाना जीसस ने कहा है कोई तुमसे कोट छीन ले कमीज भी दे देना मगर प्रेम को बचाना कोई तुमसे कहे एक मील बोझा ढो चलो तुम दो मील तक साथ चले जाना क्योंकि हो सकता है संकोची आदमी दो मील ले जाना चाहता और एक ही मील कहा मगर प्रेम को बचा लेना क्योंकि जो प्रेम करेगा वो परमात्मा को जानेगा क्योंकि परमात्मा प्रेम है अगर तुम एक ही बात को बचा लो जीवन में तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है छोड़ दो फिक्र परमात्मा की छोड़ दो फिक्र मोक्ष की अगर प्रेम का दिया बच गया तो सब बच जाएगा तुमने मूल आधार बचा लिया है बुनियाद बचा ली भवन बना लेना बहुत कठिन नहीं है लेकिन बिना आधार के तुम भवन तो बना लेते हो और आधार नहीं होता आज नहीं कल भवन गिरता है और उसके गिरने तुम भयंकर पीड़ा पाते हो क्योंकि उसके गिरने में तुम्हारा सारा श्रम सारी ऊर्जा सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है प्रेम है एकमात्र अभेद सुरक्षा उसे बचा लो और जो प्रेम में जीता है ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जीवन का गणित बहुत एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध है जो प्रेम में जीता है वो हमेशा संतुलित होता है उसके जीवन में एक बैलेंस होता है क्रोध में बैलेंस टूटता है संतुलन टूटता है क्योंकि क्रोध में तुम वो कर बैठते हो जो नहीं करना था क्रोध में तुम वो कर बैठते हो जिसके लिए तुम पछताओगे प्रेम से कभी कोई नहीं पछताया है और अगर तुम प्रेम के कारण पछताए हो तो समझना कि प्रेम नहीं कुछ और रहा होगा वासना रही होगी मोह रहा होगा लोभ रहा होगा काम रहा होगा प्रेम नहीं प्रेम के कारण कोई कभी नहीं पछताया प्रेम पछतावा जानता ही नहीं प्रेम का कोई पश्चाताप नहीं है प्रेम एक संतुलन देता है क्योंकि प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को एक माधुर्य देता है इस एक स्निग्धता देता है प्रेम तुम्हारे रोए रोए को एक हल्की शांति एक रस देता है उस रस के कारण तुम अति पर जाने से बचने लगते हो क्योंकि अगर अति पे जाओगे तो रस टूटता है उस रस के कारण तुम अति पर नहीं जाते प्रेमी ऐसे चलता है जैसे गर्भवती स्त्री चलती है ऐसा जीवन में चलता है क्योंकि वो दौड़ नहीं सकती उसे पता है कि एक और जीवन संभाल रही है दौड़ेगी गर्भपात हो सकता गर्भवती स्त्री कैसे चलती कभी गौर से देखा कुछ उसके पास संभालने को है वो कुछ संभाल के चलती है उसकी चाल में एक शालीनता है एक खजाना है अपने से भी महत्वपूर्ण कोई भीतर छिपा है जिसके जन्म के लिए वो कितनी ही पीड़ा झेलने को तैयार है जिसके जन्म के लिए वो अपने जीवन को भी खोने को तैयार हो सकती है प्रेमी भी ऐसे ही जीता है उसके भीतर कुछ संभालने के लिए कोई दिया जल रहा है भीतर ऐसी पुरानी कथा है कि एक सन्यासी ने सम्राट जनक को कहा कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि आप इस सब गोरख धंधे में राज्य महल संपत्ति शत्रु मित्र दरबार राजनीति कूटनीति वैश्याएं नाच गान शराब इस सब के बीच और आप परम ज्ञानी रह सकते हैं मैं भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि हम तो झोंपड़ों में भी रह के ना हो सके और हम तो नग्न रह के भी जंगलों में खड़े रहे और संसार से छुटकारा न मिला तो आपको कैसे मिल जाएगा भरे संसार में संसार के मध्य में खड़े जनक ने बिना उत्तर दिए दो सैनिकों को आज्ञा दी पकड़ लो इस सन्यासी को सन्यासी बहुत घबराया उसने कहा हद हो गई हम तो सोचते थे कि आप महाकरुणावान और ज्ञानी हैं तो आप भी साधारण सम्राट ही निकले पर जनक ने उनकी कुछ बात सुनी नहीं और कहा कि आज रात नगर की सबसे सुंदर वैश्या नृत्य करने आने वाली है महल में तो बाहर मंडप बनेगा उसका नृत्य चलेगा इससे सुंदर कोई स्त्री मैंने नहीं देखी नृत्य चलेगा दरबारी बैठेंगे संगीत होगा रात भर जलसा रहेगा तुम्हें एक काम करना है ये दो सैनिक तुम्हारे दोनों तरफ नंगी तलवार लिए चलेंगे और तुम्हारे हाथ में एक पात्र होगा तेल से भरा लबालब भरा कि एक बूंद और ना भरी जा सके उसे संभाल के तुम्हें सात चक्कर लगाने और अगर एक बूंद भी तेल गिरी ये तलवारें तुम्हारी गर्दन पर तो उसी वक्त उतर जाएंगी सन्यासी फंस गया क्या करे और ये आदमी कम से कम मौका दे रहा है सात दफे चक्कर लगाने का वैसे भी मरवा सकता है तो एक अवसर तो है कि शायद कोशिश कर ले सुंदर स्त्री का नाच शुरू हुआ उसने पहले अपने आभूषण फेंक दिए फिर वो अपने वस्त्र फेंकने लगी फिर वो बिल्कुल नग्न हो गई बड़ा मधुर संगीत था बड़ा प्रगाढ़ आकर्षण था लोग मंत्र मुग्ध बैठे थे ऐसा सन्नाटा था जैसा मंदिरों में होना चाहिए लेकिन केवल वैश्या घरों में होता है दो तलवारें नंगी और वो सन्यासी बीच में फंसा हुआ बेचारा अब तुम सोच लेते हो ग्रस्त होता तो भी चल लेता सन्यासी सन्यासी के मन में स्त्री का जितना आकर्षण होता है ग्रस्त के मन में कभी नहीं होता जैसे भूखे के मन में भोजन का आकर्षण होता है भरे पेट के मन में क्या आकर्षण होता है अगर वैश्या के घर में पड़े रहने वाले किसी आदमी को यह काम दिया होता उसने मजे से कर दिया होता इसमें कोई अड़चन ना आती लेकिन सन्यासी ने सपने में देखी थी नग्न स्त्रियां जब ध्यान करने बैठता था तब दिखाई पड़ती थी आज जीवन में पहला मौका मिला था जब देख लेता एक झलक और कोई अड़चन ना थी बिल्कुल किनारे पर ही सब घटना घट गट रही थी आवाज सुनाई पड़ने लगी कि उसने अपने आभूषण फेंक दिए सैनिक बात करने लगे जो दोनों तरफ चल रहे थे कि अरे उसने कपड़े भी फेंक दिए अरे वो बिल्कुल नग्न भी हो गई और वो अपना दिया संभाले और बूंद तेल न गिर जाए उसने सात चक्कर पूरे कर लिए एक बूंद तेल न गिरी सम्राट ने उसे बुलाया और कहा समझे जिसके पास कुछ संभालने को सारी दुनिया चारों तरफ नाचती रहे कोई अंतर नहीं पड़ता तुझे अपना जीवन बचाना था तो वैश्य नग्न हो गई तो भी तेरी आंख उस तरफ न गई ये सैनिक बड़ी रस भरी चर्चा कर रहे थे ये मेरे इशारे थे कि तुम रस भरी चर्चा करना लुभाना और दोनों तरफ से बोल रहे थे और इन दोनों के बीच तू फंसा फंसा था फिर भी तूने ध्यान न छोड़ा तूने ध्यान अपने पात्र पर रखा भरा पात्र था कुशल से कुशल व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ जाता बड़े सात लंबे चक्कर थे एक बूंद तेल गिर जाती गर्दन तेरी उतर जाती जीवन तुझे बचाना था जनक ने कहा कुछ मेरे पास है जिसे मुझे बचाना है और जब तुम्हारे पास कुछ बचाने को होता है तो वही तुम्हें बचाता है प्रेम जब जिसके भीतर होता है प्रेम को तुम बचाते हो प्रेम तुम्हें बचाता है तुम प्रेम को संभालते हो प्रेम तुम्हें संभालता है प्रेम को बचाना प्रेम से संतुलन आ जाएगा क्योंकि कुछ बचाने को है तुम अतियों पर न जाओगे और जिसने प्रेम जान लिया वो महत्वाकांक्षा पे हंसने लगता है क्योंकि महत्वाकांक्षा प्रेम के अभाव में पैदा होती है जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वो धन पाना चाहते हैं धन सब्सिट्यूट है प्रेम तो ना मिला किन्हीं आंखों ने ऐसा तो ना कहा कि धन्य भाग है कि तुम हो किन्हीं हाथों ने छुआ नहीं और कहा नहीं कि फूल की पखरियां भी इतनी कोमल नहीं किसी ने गले न लगाया और कहा कि तुम ही मेरी आत्मा हो और तुम्हारे बिना सब सुना हो जाएगा किसी ने तुम्हारे लिए गीत ना गाए किसी ने वीणा ना बजाई कोई आनंद मत होकर तुम्हारे चारों तरफ नाचा नहीं अब एक कमी रह गई तब तुम कोशिश कर रहे हो कि धन हो जाए तो लोग कहें कि हां तुम कुछ हो खूब धन है तुम्हारे पास ऐसा किसी के भी पास नहीं कि पद मिल जाए कि तुम राष्ट्रपति हो जाओ कि प्रधानमंत्री हो जाओ कि सारी दुनिया कहे कि हां सिद्ध कर दिया कि तुम कुछ हो मेरे जानने में जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही राजनीति में उतरते जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही धन की दौड़ में लगते जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही प्रसिद्धि की आकांक्षा करते हैं वो सब्सिट्यूट हैं परिपूरक हैं पर ध्यान रखना प्रेम का कोई परिपूरक नहीं है आखिर में तुम धन कमा लोगे बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओगे और भीतर पाओगे वही रिक्तता क्योंकि प्रेम को सिर्फ प्रेम ही भर सकता है कोई और नहीं प्रेम की आकांक्षा को सिर्फ प्रेम ही तृप्त कर सकता है तुम थोड़ा सोचो किसी को प्यास लगी है वो पानी मांग रहा है तुम उसे करेंसी नोट दे रहे किसी को प्यास लगी है वो पानी मांग रहा है तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें राष्ट्रपति बनाए देते वो कहेगा हमें पानी चाहिए पानी के लिए कुछ भी तो परिपूरक नहीं हो सकता साधारण प्यास के लिए परिपूरक नहीं मिल सकता तो प्रेम की प्यास के लिए परिपूरक मिल जाएगा कोई परिपूरक नहीं है इसलिए जिसने प्रेम को संभाला उसका संतुलन संभल जाता जिसने संतुलन संभाल लिया वो आगे होने की दौड़ में कभी भी उतरता ही नहीं तुम उसे राजी ही न कर पाओगे चुआंग तसु की कथा से पूरी करूं बैठा है चुआंग तसु एक तालाब के किनारे मारता है मछली सम्राट ने भेजे हैं अपने मंत्री और कहा कि सुनो राजा चाहता है कि तुम आ जाओ प्रधानमंत्री हो जाओ बैठा रहा चुआंग तो आंख भी मछली से ना हटाई अपनी वंशी को संभाले रहा देखा भी नहीं वजीरों की तरफ इतना ही कहा कि देखते हो उस किनारे कछुए को कीचड़ में कछुआ अपनी पूछे लाके के मजा कर रहा आनंदित हो रहा कछुए का मजा कीचड़ में है देखते हो उस कछुए को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा हमको समझे नहीं कछुए से इसका क्या लेना देना तो चुआंग तसु तो ने कहा हमने सुना है कि सम्राट के महल में सोने में ढका एक मरा हुआ कछुआ है तीन हजार साल पुराना उसकी पूजा की जा, जा की जाती है वो राज्य चिन्ह है मैं तुमसे ये पूछता हूं कि अगर इस कछुए को तुम कहो कि चल राजमहल सोने में मर देंगे तेरी पूजा होगी हजारों हजारों साल तक सम्राट झुकेंगे तेरे सामने तो ये कछुआ वहां जाना पसंद करेगा या कीचड़ में अपनी पूछ हिलाना ही पसंद करेगा उन वजीरों ने कहा कि कछुआ तो कीचड़ में पूछ हिलाना ही पसंद करेगा क्या सार मरने में और क्या सार सोने में मढ़े जाने में और क्या सार पूजा पत्री में तो चौंग तो सुने का जाओ कह देना सम्राट से कि हम भी कीचड़ में ही पूछ हिलाना पसंद करते जब कछुआ इतना समझदार है तो हम कोई उससे ज्यादा ना समझ हम मगन हैं अपने आनंद में तुम्हारे महलों की तुम्हारे सिंहासनों की तुम्हारी पद प्रतिष्ठा की हमें जरूरत नहीं जो प्रेम में मगन है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं प्रेम तृप्त कर जाता है दौड़ छूट जाती है और महत्वाकांक्षा जिसकी छूट गई उसका मन गिर जाता है मन महत्वाकांक्षा है जिसकी महत्वाकांक्षा छूट गई वो अमन हो जाता नो माइंड हो जाता और उसी घड़ी में द्वार खुलते हैं जो सदा से बंद है और तुम पाते हो प्रभु द्वार पर खड़े प्रभु सदा से ही द्वार पर खड़े थे लेकिन तुम्हारी नजर कहीं और थी जब तुम प्रेम से भरे संतुलन में डूबे महत्वाकांक्षा मुक्त खड़े हो जाते हो तब कोई पर्दा ना रहा सब पर्दे उठ जाते बहुत दौड़ लिए सिंहासनों की दौड़ में बहुत तरह के स्वर्ण से ढके जा चुके और हर बार स्वर्ण ने कब्र बनाई जीवन का संगीत और जीवन की समाधि न थी अब समय है जाग जाना चाहिए कबीर कहते हैं जाग सके तो जाग आज इतना है